और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों में लेकर जा रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो उनसे अलग था ए बेटे मेरे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो